लाल लहंगे वाली लड़की इस वक्त दिन के करीब साढ़े ग्यारह बज चुके थे विक्रांत इस वक्त डीए नगर पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था विक्रांत ने वहां होटल के बाथरूम में देवाशीष की जितनी बातें सुनी थी उसी के हिसाब से केस का एनालिसिस करके अपने बाकी साथियों को कहानी सुना रहा था वो पूरे केस को इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा था जैसे मानो वो बहुत बड़ा डिटेक्टिव है और उसने खुद ही ये सारी चीजें पता लगाई हैं वहां मौजूद डिटेक्टिव्स भी विक्रांत की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे उन्हें विक्रांत की सारी बात सच्ची लग रही थी हालांकि नैना को उसकी बातें थोड़ी अटपटी लग रही थी जब विक्रांत ने केस के बारे में इतना बढ़ा चढ़ा कर एक्सप्लेन किया तब नैना ने उसे आंख दिखाते हुए सवाल किया ये बताओ जब तुम मुझसे फोन पर बात कर रहे थे तब तो तुमने मुझे ये सब कुछ नहीं बताया था अरे ये सब फोन पर बताने वाली बातें थोड़ी ना है अगर कोई फोन टैप कर रहा हो तो विक्रांत बातें बनाने में तो माहिर था ही बकवास बंद करो समझे क्यों नहीं बताया मुझे फोन पर नैना ने विक्रांत के पैर में मारते हुए कहा अरे सॉरी मैं भूल गया था उस टाइम मुझे याद नहीं था विक्रांत ने नैना को आंख से इशारा करते हुए उसे चुप रहने के लिए कहा नैना मैडम ये समझ नहीं आ रहा कि हेडक्वार्टर वाले करना क्या चाहते हैं पहले जॉइंट ऑपरेशन के नाम पर एक टीम बना दी और अब सभी को इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया है मुझे तो लग रहा है कि ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं जतन ने कहा आप ही बताइए आधी रात को जब सब पुलिस वाले इंटेरोगेशन के काम में लगे हुए थे तब अचानक से सबको वहां से हटने का फरमान सुना दिया कमाल है मजाक चल रहा है क्या हम्म अब हम क्या ही कर सकते हैं नैना थोड़ा मुंह बनाते हुए कहा अब हेडक्वार्टर का जो भी ऑर्डर आएगा हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा हा? क्या करें वैसे मुझे लग रहा है कि हेडक्वार्टर ने हमें वहां से हटाकर ठीक ही किया क्योंकि वैसे भी सारे इन्वेस्टिगेटर्स के बीच में कंपटीशन मचा हुआ था सब अपने अपने हिसाब से काम करने में लगे थे मेरे कुछ लोगों से बात हुई है और पता चला है कि हेडक्वार्टर की स्पेशल टीम अब इस केस में इन्वॉल्व हुई है तो अब आगे की इन्वेस्टिगेशन वही करेंगे लेकिन वो लोग हम सबके साथ केस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे मतलब हमें सब कुछ पता चलता रहेगा और फिर उसके बाद सभी ब्रांच वाले अपने हिसाब से इस केस को सॉल्व कर सकते हैं अच्छा इसका मतलब कि अभी भी केस सॉल्व करने का कंपटीशन चलता रहेगा रितेश ने अपनी बाहें समेटते हुए कहा कोई बात नहीं हम तैयार हैं देखते हैं कौन हमसे पहले इस केस को सॉल्व कर पाता है अरे लेकिन हम लोग कोई बच्चों का गेम थोड़ी ना खेल रहे हैं जो कंपटीशन करना है राघव ने रितेश की बात को बीच में ही काटते हुए कहा हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स को खुद समझना चाहिए इस तरह का कंपटीशन क्यों करवा रहे हैं सबके बीच मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कुछ मैम ये अमित का मैसेज आया सुनिधि ने अचानक से नैना को बुलाते हुए कहा उसे इगतपुरी ट्रैफिक पुलिस ऑफिस से वहां का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है उन लोगों ने उस वीडियो को हमारे ब्रांच की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है जतिन चेक करने के लिए बोल रहा है हम्म, देखती हूँ नैना ने तुरंत ही कुछ लोगों को वीडियो चेक करने के काम पर लगा दिया विक्रांत ने उन लोगों को फिर से समझा दिया कि पिछले 25 से 30 दिन के वीडियो फुटेज को ध्यान से चेक करो क्योंकि तो इसी बीच में मिस्टर अय्यर का मर्डर हुआ था विक्रांत सर आप कमाल के हो सच में कमाल के हो सुनिधि ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा पहले तो आप जो थे वो थे लेकिन अब आप दिन पर दिन और बेहतर होते जा रहे हैं अब आप बस डेड बॉडी देख के बता देते हो कि मर्डर कब हुआ था विक्रांत अपनी तारीफ सुनकर काफी खुश हो गया लेकिन उसने सुनिधि को ये राज नहीं बताया कि उसे ये बात देवाशीष की बात सुनने के बाद पता चली थी और फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अब उसे मिल चुकी है विक्रांत ने सुनिधि की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और फिर बोल पड़ा अच्छा मुझे एक कप कॉफी पिला दो जल्दी से दो चम्मच शुगर के साथ ओके सर ला रही हूँ बस इतना कहकर सुनिधि वहां से उठकर चली गई मैं आ गया मैं आ गया देर से आने के लिए माफी जैसे सुनिधि यहाँ से उठकर कॉफी बनाने के लिए गई तुरंत ही ऑफिस के भीतर किसी की आवाज गूंज उठी उसने अपने हाथ में छाता ले रखा था जब सब लोगों ने उसकी तरफ पलट कर देखा तो पता चला कि ये तो टीम ए के पुराने टीम लीडर और अब टीम बी के टीम लीडर बन चुके हैं मिस्टर चेतन राय जब विक्रांत हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था उसी टाइम चेतन भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था उसके पैर की इंजरी अब ठीक हो चुकी थी हॉस्पिटल से निकलने के बाद भी वो कुछ दिन तक घर पे रहा था और अब फाइनली वो ऑफिस में लौटकर दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर रहा था चेतन के आने से डीएन नगर पुलिस ब्रांच की पूरी टीम फुल हो गई थी अब यहाँ किसी की भी जगह खाली नहीं थी चेतन ने आते ही सबसे पहले नैना से मिलकर उससे माफी मांगी उसके बाद उसने विक्रांत से भी खुद ही जाकर बात की नैना और विक्रांत को भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी वो तो बस पुष्कर की वजह से उन दोनों की चेतन से भी लड़ाई हो गई थी वरना इन्हें चेतन से पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं थी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है कोई कैब भी नहीं मिल रहा था बड़ी मुश्किल से एक कैब मिली चेतन खुद के देर से आने का बहाना बता रहा था चेतन ने ऑफिस में इन लोगों से बातें करने के बाद नैना की तरफ देखते हुए कहा अच्छा क्या चल रहा है केस में कुछ पता चला इस केस ने तो पूरे शहर को हिला के रख दिया है नैना ने फिर तुरंत ही चेतन को पूरा केस समझाया और अभी तक जो भी इन्फॉर्मेशन उसके पास थी वो उसने चेतन को भी बता डाला चेतन ने नैना की पूरी बात ध्यान से सुनी और फिर उसने अपना अनुमान लगाते हुए कहा मुझे तो केस क्लियर लग रहा है ये तीनों पुरातत्व विभाग वाले ऑफिसर ने मिलकर चोरी करने का प्लान बनाया था और फिर उन्हीं के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ रहा होगा फिर उन्होंने अपने साथी को ही मार डाला होगा अरे चेतन साहब आप टीम लीडर हैं आप जो कुछ भी बोल रहे हैं जरा सोच समझ के बोलिए वरना अगर आपकी ये बात बाहर मीडिया में चली गई और पुरातत्व विभाग वालों को पता चल गया तो फिर आपका जीना मुश्किल हो जाएगा वो लोग सब काम छोड़कर सबसे पहले आपके ऊपर मानहानि का केस ठोक देंगे राघव ने चेतन की तरफ सीरियस होकर देखते हुए कहा वैसे मुझे जो लग रहा है वो ये है कि कुछ ऐसा हुआ रहा होगा कि ये तीनों ऑफिसर किसी स्पेशल और सीक्रेट काम करने जा रहे थे इसी वजह से ये लोग घर पे झूठ बोलकर गए थे फिर वहां पर इन लोगों को मकबरे में चोरी करने वाले ग्रोह ने पकड़ लिया होगा और फिर इन लोगों की मदद से उन्होंने मकबरे का पता लगाया और जब उनका काम हो गया तब उन्होंने इन्हें मार डाला क्या बात कर रहे हैं राघव जतिन ने विक्रांत की बातों से असहमति जताते हुए कहा अब ये बताओ अगर उन लोगों में घर पर झूठ बोला था तो पुरातत्व विभाग के ऑफिसर में तो किसी को इसकी इन्फॉर्मेशन होती और चलो एक बार के लिए मान भी लिया जाए कि इन लोगों के ऑफिस में भी किसी को नहीं पता था फिर भी चोरों ने सिर्फ मिस्टर अय्यर का ही मर्डर क्यों किया बाकी के दोनों को क्यों नहीं मारा अभी तक तो उनके मरने की कोई खबर नहीं आई अरे तो फिर ऐसा हो सकता है राघव ने अपनी बात को सही प्रूफ करने के लिए दूसरी दलील देना शुरू भी कर दिया फिर ऐसा हो सकता है कि रॉबर्स इन लोगों को नॉलेज से काफी इम्प्रेस हो गया और फिर दोनों को जिंदा छोड़ दिया हो जिससे फ्यूचर में ये दोनों उनके काम आ सकें नहीं राघव तुम समझ नहीं रहे जतिन ने उसे समझाते हुए कहा देखो जो चोर होते हैं वो सिर्फ चोरी करते हैं किसी का मर्डर करके अपना काम नहीं खराब करते और ख़ास तौर पर जो ये मकबरे आदि से चोरी करने वाले लोग होते हैं ये लोग कभी मर्डर वगैरह नहीं करते मर्डर करने पर इनके पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ जाता है ये नॉर्मली किसी को मारने का रिस्क नहीं लेते हैं और दूसरी बात मकबरे के भीतर ऐसा कोई बहुत कीमती खजाना भी नहीं होता कि ये लोग उसके लिए किसी की जान ले लें वहाँ क्या होगा ज्यादा से ज्यादा कुछ पुराने सोने चांदी के सामान और पुराने जमाने के बर्तन और मूर्तियां बस इसके लिए वो भला कोई मर्डर क्यों करेंगे देखो किसी मकबरे आदि से ऐतिहासिक सामान की चोरी करने के लिए कानून की तरफ से जो सजा निर्धारित है वो है दस साल की कैद अधिकतम जो कि कभी किसी को होती नहीं है लेकिन अगर उन्होंने किसी का मर्डर किया तो फिर सीधे उम्र कैद और जल्दी बेल भी नहीं मिलेगी एना बड़े ध्यान से जतन की सारी बातें सुन रही थी उसे भी जतन की बातें काफी हद तक सही लग रही थी जहां तक नैना का मानना था कि किसी पुरातत्व विभाग के सीनियर ऑफिसर का मर्डर होना वो भी किसी मकबरे के भीतर जहां पर वो अपना काम करता है ये काफी अजीब है इस केस में जो चीज जैसी दिख रही है ठीक वैसी है नहीं कुछ ऐसा जरूर है जहां तक कोई पहुंच नहीं पा रहा है नैना जब भी इस तरह के केस का एनालिसिस करती है तो फिर वो उस वक्त विक्रांत की राय जरूर जानना चाहती है क्योंकि ऐसे समय पर विक्रांत हमेशा सबसे हटकर और अलग तरीके से केस के बारे में एनालिसिस करता है नैना इसी आस में विक्रांत की तरफ देखने लगी हे विक्रांत क्या कर रहे हो नैना ने देखा कि इस वक्त विक्रांत अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ बड़े ध्यान से देख रहा था नैना उत्सुकतावश अपनी सीट से उठकर विक्रांत के पास आकर उसकी स्क्रीन पर देखने लगी नैना के साथ ही सुनिधि भी उठकर विक्रांत के बगल खड़ी हो गई थी वहाँ विक्रांत की स्क्रीन पर किसी औरत की डेड बॉडी दिख रही थी उसने लाल रंग का लहंगा पहन रखा था जो कि काफी पुराने जमाने का दिख रहा था